और जिस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा वो कहेगा ए कि मैं रसूल के साथ हिदायत का कुछ रास्ता इख्तियार करता